बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद किताबुल्लाह में बारह महीने है जिस दिन से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया उनमें से चार हरमत वाले हैं यही सीधा दीन है सो उनमें अपनी जानों पर जुल्म न करो और मुशरकों के खिलाफ सब मिलकर लड़ो जैसे वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं और जान लो यकीनन अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है